तीसरा हमारे रब ने हमारे सब्र को खाली कर दिया है और उसने हमारे लचक को साबित किया है और हम लोगों के लोगों से उलझन में है